यकीनन तुम्हारे लिए उनके तर्ज अमल में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखरत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो और जो मुंह मोड़े तो वो याद रखे कि बेशक अल्लाह ही बेनियाज बहुत तारीफों वाला है